पहला प्रश्न भगवान श्री दत्ता बाल आपसे बहुत बुरी तरह जल भुन गए लगता है कि उन्हें पहले से ही आपसे व्यक्तिगत रूप से जलन थी और अब उन्हें विवेकानंद का बहाना मिल गया है उन्होंने कहा है कि आचार्य रजनीश चरस गांजा भांग खिला पिला कर लोगों को समाधि दिलाते हैं जबकि विवेकानंद सिर्फ छूकर ही समाधि दिला देते थे उन्होंने और भी निम्न बातें आपके संबंध में कही हैं कृपया प्रकाश डालें पहली कि आचार्य रजनीश स्वघोषित भगवान है दूसरा कि आचार्य रजनीश अज्ञानी है तीसरे कि आचार्य रजनीश का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वहीन है चौथी आचार्य रजनीश ने हिंदू देवताओं को कामी और भोगी कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है पांचवी के आचार्य रजनीश की तुलना विवेकानंद से कभी भी नहीं हो सकती है छठवा कि स्वामी विवेकानंद ने अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए अपना आश्रम बेचने की तैयारी दिखाई थी क्या आचार्य रजनीश ऐसा कर सकते हैं और साथ में कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अगले जन्म में मैं एक हरिजन की कुटिया की सफाई करूंगा क्या आचार्य रजनीश भी ऐसा कर सकते हैं वंदना श्री दत्ताबाल ने जो भी कहा है सोचने योग्य है पहली तो बात मंगला भारती ने कुछ सूचनाएं श्री दत्ताबाल के संबंध में भेजी हैं उन्हें ख्याल में लेना पहली एक साल पहले कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में श्री दत्तावाल और उनके साथियों ने नशे में चूर होकर जब प्रवेश किया तब मंदिर के पुजारी ने उन्हें मूर्ति के करीब जाने से मना किया लेकिन उन्होंने उस पुजारी की मारपीट की और झगड़ा भी किया बात यहाँ तक बढ़ गई कि पुलिस आई और इन लोगों को पुलिस हिरासत में बंद किया गया मंगला ने यह भी लिखा है कि श्री दत्तापान मध्यपान ही नहीं करते मांसाहारी भी हैं और हिंदू धर्म के अभिमान से इतने भरे हुए हैं कि उनकी इच्छा थी कि स्वयं को विवेकानंद का उत्तराधिकारी सिद्ध करते हैं और हिंदू धर्म की विजय पताका पृथ्वी पर फहराते इस हेतु उन्होंने दत्ताबाल मिशन नामक संस्था स्थापित की लेकिन वहां कोई आता जाता नहीं बड़ी ही दयनीय अवस्था हो गई है अब उनकी पूरे असफल हो गए अब फिर से अपना नाम प्रकाश में लाने के लिए आपके विवेकानंद के प्रवचन का जैसे उन्हें सहारा मिल गया है दस बारह साल से वे आपके प्रति ईर्षा से जल रहे हैं और अब तो वे पूना वालों को भी भड़का रहे हैं पहलवान होने के कारण वे बुद्धि का जरा भी उपयोग न करते हुए आपके विरोध में बिल्कुल ही बचकानी और मूलता भरी बातें करते हैं आपकी किसी बात का जवाब सप्रमाण देना उनके लिए असंभव सिद्ध हुआ है इसलिए अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं मंगला भारती ने यह भी लिखा है कि भगवान उन्हीं के बारे में एक घटना याद आ रही है दस या बारह साल पहले दत्ताबाल के प्रवचन पूना में हुए थे सोफा पर बैठकर वे प्रवचन दे रहे थे पर शराब के नशे में इस तरह डूबे थे कि तो उन्हें खुद का भी कोई होश नहीं था दृश्य बड़ा ही देखने जैसा था अपनी जगह से वे एक बार बाई तरफ और एक बार दाई तरफ इस तरह बार बार हिल रहे थे और चंचलता के कारण हिलना भी इतना जल्दी हो रहा था कि उनके पाजामे की दो नाड़िया जो कि नीचे की तरफ लटक रही थीं वे भी हिल रही थी हमें तो बड़ी हंसी आई थी तब भी और अब भी क्योंकि जिन्हें खुद का होश नहीं रहता है वे आप जैसे बुद्ध पुरुष को होश की बातें समझा रहे हैं अब तो हद हो गई मूर्ता की भी मनुष्य अक्सर दूसरों में वही देख लेता है जो भीतर छुपाया होता है मैंने किसे गांजा चरस और भांग पीने को कहा है जरूर डुबाता हूं किसी नशे में मगर वो नशा इस दुनिया का नशा तो नहीं मस्ती भी चाहता हूं कि छाए लोगों में गीत भी उगे आनंद भी हो उत्सव भी मगर वह सब तो आकाश से उतरने वाली मधु वर्षा है उसके लिए लोगों को तैयार करता हूं निश्चित ही यह मधुशाला है लेकिन मधुशाला उसी अर्थों में जिस अधुशाला जिस अर्थ में बुद्ध का संघ मधुशाला थी कृष्ण का सत्संग मधुशाला थी यहां रिंद ही इकट्ठे मगर यह शराब बेहोश नहीं करती होश में लाती आए हैं समझाने लोग हैं कितने दीवाने लोग आए हैं समझाने लोग हैं कितने दीवाने लोग दैर हरम में चैन जो मिलता क्यों जाते मैखाने लोग दैर हरम में चैन जो मिलता क्यों जाते मैखाने लोग जान के सब कुछ भी न जाने जान के सब कुछ भी न जाने हैं कितने अनजाने लोग वक्त पे काम नहीं आते ये जाने पहचाने लोग वक्त पे काम नहीं आते ये जाने पहचाने लोग अब जब मुझको होश नहीं है आए हैं समझाने लोग एक ऐसी भी बेहोशी है जो बेहोशी भी नहीं एक ऐसी भी मस्ती है जो अंगूर की शराब से नहीं मिलती आत्मा की शराब से मिलती है दत्ता बाल को जो भीतर दबा पड़ा है वो मेरे दर्पण में दिखाई पड़ गया होगा और तूने पूछा है वंदना कि प्रतीत होता है वे आपसे व्यक्तिगत रूप से जले भुने थे स्वभावता जिनको किसी भी धर्म की मतांधता है और जिन्हें ये भ्रांति है कि वे हिंदू धर्म की पताका सारे जगत में फहराना चाहते हैं उन्हें मुझसे अड़चन तो हो ही जाएगी और फिर इतने दीवानों की यहां जमात दुनिया के कोने कोने से आने वाले खोजियों का ये जमघट ये मेला न मालूम कितने लोगों की छातियों पर सांप लौट गए विवेकानंद से क्या लेना देना है उन्हें चार साल पांच साल पहले मुझसे मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना चाहते थे एकांत में मुझसे मिलना था मैंने खबर भेजी कि मैं तो एकांत में किसी से मिलता नहीं जैसे सबसे मिलता हूं वैसे आपसे मिल सकता हूं जरूर आ जाएं मगर विशिष्टता चाहिए एकांत एक उससे उन्हें बड़ी चोट लगी बहुत भुनभुना गए तब से उनको अड़चन है कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया किसको पढ़िए विवेकानंद से कौन रोता है किसी और की खातिर दोस्त सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया मगर आदमी रोता भी है तो उसके लिए भी आवरण खोजता है मुखोटे खोजता है बहाने खोजता है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे खुद से भी जो खुद को छिपाए क्या उनसे पहचान करें क्या उनके दामन से लिपटे क्या उनका अरमान करें जिनकी आधी नियत उभरे आधी छिपी रहे मुखोटों से भरे हुए लोग लेकिन धर्म के नाम से यही चलता रहा है चल रहा है और मेरे साथ एक धर्म के पताका फहराने वालों को ही नहीं सभी धर्मों की पताका फहराने वालों को अर्चन होगी क्योंकि मेरा किसी धर्म से कोई लगाव नहीं धार्मिकता से प्रेम है और मेरे हिसाब में तो जो धार्मिक है वह हिंदू नहीं हो सकता मुसलमान नहीं हो सकता ईसाई नहीं हो सकता धार्मिक होना पर्याप्त है इस पर कोई विशेषण न लगाए जा सकते हैं न आवश्यक है विशेषण लगाने से तो बात खराब हो जाएगी बात बिगड़ जाएगी विशेषण तो सीमा दे देते हैं विशेषण पर भी बना देते वह जो मुक्त आकाश की तरह है उसे छोटा सा आंगन कर देते यहाँ मेरे पास सारे धर्मों के लोग इकट्ठे संभवतः तो मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहली बार एक अभूतपूर्व घटना घट गट रही है सारे धर्मों के लोग इकट्ठे लेकिन उन्होंने अपने विशेषणों को ऐसे हटा के रख दिया है जैसे कोई कूड़े करकट को घर से सुबह साफ करके फेंक देता है अब तो उनका एक ही धर्म है ध्यान अब तो उनका एक ही धर्म है प्रेम ध्यान अपने लिए प्रेम सबके लिए ध्यान अंतर यात्रा प्रेम बहिर यात्रा बस धर्म के ये दो पहलू ये दो चाक और धर्म की गाड़ी चल पड़ती अनंत यात्रा पर चल पड़ती ये दो पंख प्रेम और ध्यान के फिर अनंत दूरी भी तय की जा सकती है जितनी बातें तूने लिखी हैं उनमें से एक एक बात का विचार कर लेना उपयोगी है पहली तो बात विवेकानंद स्वयं समाधि के अनुभव के बिना मरे उनकी खुद की डायरी सबूत है मरने के तीन दिन पहले भी उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं अभी तक वह पा नहीं सका जो पाना था अभी तक वह प्रकाश घटित नहीं हुआ है रामकृष्ण की बातों को वे दोहराते रहे और ढंग से दोहराते रहे पंडित थे प्रगाढ़ पंडित थे मेधावी थे प्रतिभाशाली थे लेकिन मेधा और प्रतिभा समाधि नहीं है न पांडित्य प्रज्ञा है लेकिन हिंदू धर्म की अकड़ थी उसी अकड़ के कारण भारत में विवेकानंद को सम्मान मिला सम्मान मिलने का और कोई कारण न था इतना ही कारण था कि हिंदू धर्म का जो आहत अहंकार था उसको विवेकानंद ने आक्रामक रूप दिया अब उनका ये कहना कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के विपरीत कुछ कहेगा उसे समुद्र में उठा के फेंक दूंगा कोई धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं यह तो अधार्मिक चित्त की बात है अगर हिंदू धर्म के समर्थन में कुछ कहने की स्वतंत्रता है तो हिंदू धर्म के विरोध में भी कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अन्यथा सत्य की शोध कैसे होगी हिंदुओं में सिर्फ दो ही मुसलमान हुए एक दयानंद और एक विवेकानंद इन दोनों की बुद्धि मुसलमान की थी इन दोनों में न सहिष्णुता है न उदारता है दत्ता बाल ने स्वयं उल्लेख किया है और इसलिए वो मेरी तुलना विवेकानंद से नहीं कर सकते मैं भी नहीं करना चाहता वो करने को राजी भी हो तो मैं इंकार करूंगा दत्ता बाल ने लिखा है कि कहा विवेकानंद जिन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म का विरोध करेगा उसको समुद्र में उठा के फेंक दूंगा और कहा आचार्य रजनीश नर्म गद्दों पर सोने वाले मैं दोनों में कुछ संबंध नहीं देख पाया और नर्म गद्दे पर सोने में ऐसा कौन सा अधर्म है हाँ किसी को समुद्र में फेंकना जरूर अधर्म की बात है और स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे और नरम नद्दा कहां से खोजोगे अब मेरे पास बहुत लोग थे योग्य लोग थे लेकिन मैंने कहा कि लक्ष्मी तू ही संभाल ले सचिव का पद उसने कहा क्यों मैंने कहा कि तू लक्ष्मी मुझे तो क्षीर सागर में विश्राम करना ऐसे तो मेरे पास बहुत योग्य लोग थे लक्ष्मी को बेचारी को कुछ पता ही क्या था इस दुनिया के काम धंधे का लेकिन मैंने कहा ये ठीक रहेगा इससे पुरानी कथा भी फिर जी उठेगी ये तो पुराना ढंग है क्षीर सागर में विश्राम करने में तो कोई अड़चन नहीं लेकिन किसी को क्षीर सागर में उठा के फेंक देने की बात तो सुनी नहीं नहीं तुलना मेरी उनके साथ हो ही नहीं सकती दत्तावाल ने उल्लेख किया और इस तरह की बहुत कहानियों का हिंदुओं के मन पर खूब असर पड़ा कि विवेकानंद प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं दो अंग्रेज उनके दोनों तरफ बैठे एक अंग्रेज कहता है कि मेरे बगल में एक सुअर का बच्चा बैठा हुआ है दूसरा अंग्रेज कहता है कि मेरे बगल में भी एक गधा बैठा हुआ है और विवेकानंद कहते हैं कि मैं दोनों के बीच में बैठा हुआ हूं हिंदुओं को ये बात बहुत जची मगर मैं पूछता हूं कि गधे के बीच और सुअर के बच्चे के बीच विवेकानंद बैठ के क्या उपनिषद साथ रहे थे अरे उठ के खड़े हो जाना था ऐसे सत्संग में बैठना चाहिए क्या मगर हिंदू अहंकार को सुख मिला और सवाल ये उठता है मैं अगर प्रथम श्रेणी में चलूं तो चल सकता हूं मुझे चलना ही चाहिए क्योंकि मैं वही कहता हूं जो करता हूं और वही करता हूं जो कहता हूं ऐश्वी विरोधी नहीं और विवेकानंद तो अपना आश्रम बेचने को तैयार थे अकालग्रस्त दीन दरिद्रों की सेवा में प्रथम श्रेणी में यात्रा करके क्या कर रहे थे इनको तो तृतीय श्रेणी में चलना चाहिए ये तो पाखंड हो गया मैं तो प्रथम श्रेणी में चल सकता हूं कोई इसको पाखंड नहीं कह सकता मैं तो तृतीय श्रेणी में चलूं तो पाखंड हो जाए क्योंकि मेरे सिद्धांत के विपरीत कहता कुछ करता कुछ मैं तो वही करता हूं जो कहता हूं विवेकानंद प्रथम श्रेणी में क्या कर रहे थे और अगर ये दोनों आदमी मूढ़ थे तो विवेकानंद ने कुछ ज्यादा बुद्धिमत्ता जाहिर नहीं की उन मूढ़ों के साथ खुद भी मूढ़ता ही प्रकट की और जब देख लिया एक तरफ गधा बैठा है एक तरफ सुअर का बच्चा बैठा है तो उठ के खड़े हो जाना था कि भाई ऐसे सत्संग में मैं कहां तक बैठू मगर नहीं हिंदू अहंकार को इस तरह की कहानियों से खूब रस मिला दत्ताबाल कहते हैं कि विवेकानंद ने पहल की थी कि मैं अकालग्रस्त लोगों के लिए अपने आश्रम को बेचने को तैयार हूं पूछता मैं ये हूं कि बेचा पहल की थी कहा था सवाल है बेचा क्या कहने से अकाल मिट गया था और फिर सवाल यह है कि विवेकानंद का रहा होगा आश्रम अपनी चीज हो तो बेच सकते हो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं भी यही कर सकता हूं मेरा तो कोई आश्रम है नहीं मैं तो यहां मेहमान हूं न तो इस आश्रम में मैं ट्रस्टी हूं न इस आश्रम के किसी पद पर हूं मुझे छोड़ के इस आश्रम में सभी का कुछ न कुछ हक मेरा कोई भी हक नहीं मेरी कोई कानूनी हैसियत नहीं मुझे अगर इस आश्रम के ट्रस्टी फली भाई लक्ष्मी लहरू कहें कि अब आप जाइए तो मैं संत से कहूंगा कि संत चलो संत को तो मुझे ले जाना पड़ेगा क्योंकि दो तंदूर की रोटी बना देगा छोले की सब्जी लस्सी का गिलास बस काफी मुझसे तो जिस दिन कहते हैं उसी दिन मुझे बाहर हो जाना पड़े क्योंकि मेरा यहाँ कोई अधिकारी नहीं मैं इस आसन को बेचने की बात तो कैसे करूं अपना हो तो कोई बेच सकता है मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है और इसलिए तो मजा है अपना कुछ है नहीं है नहीं इसलिए चिंता कुछ है नहीं रहे तो ठीक जाए तो ठीक मैं पूरे आश्रम में भी कभी घूमा नहीं हूं जो घंटे भर के लिए भी आश्रम में आता वो भी पूरा आश्रम देख लेता है मुझे तो सात साल हो गए मैंने पूरा आश्रम देखा नहीं पूरे आश्रम की बात छोड़ो मैंने लाउसु जहां मैं रहता हूं उस भवन के भी सारे कमरों में नहीं गया हूं सिर्फ अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं गया हूं यूं लोगों को देख के लगता होगा कि रॉल्स में चलता हूं औरों की तो बात छोड़ो अभी एक मित्र कृष्णमूर्ति को मिलके आए तो कृष्णमूर्ति तक को ये बात कहनी पड़ी कृष्णमूर्ति से मुझे आशा नहीं थी दत्तावाल वगैरह की मैं कोई गिनती नहीं करता मगर कृष्णमूर्ति ने भी ये कहा कि आप भी जाते हैं उस खतरनाक आदमी के पास जिसने के भारत में सबसे ज्यादा महंगी कार रख छोड़ी वो कार मेरी है नहीं भैया कार में बैठ गए तो तुम्हारी हो गई क्या अब आज छोटा सिद्धार्थ मेरे साथ बैठ के आ गए तो कोई सिद्धार्थ की हो गई कार शिला की है मैं तो सिर्फ मेहमान हूं और ये तो सिर्फ भारत में सबसे कीमती कार है अभी सीला गई है अमेरिका कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती कार ले आए अब मैं क्या करूं मेरी कार हो तो बेच दू मगर मेरी कार है नहीं न मेरा मकान है न मेरा आश्रम है विवेकानंद का रहा होगा तो उन्होंने पहल की कि बेच दू हालांकि बेचा किया नहीं यही तो मजा है इस देश में लोग बातों के धनी हैं मेरा कुछ भी नहीं है बेचने का सवाल ही नहीं उठता न बेचने का सवाल उठता ना खरीदने का क्योंकि खरीदने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इसलिए मुझसे ज्यादा मस्त आदमी इस दुनिया में दूसरा नहीं कोई आए कोई जाए सब बराबर है न मेरा कुछ जाता न मेरा कुछ आता लेकिन ये प्रश्न सोच लेने जैसे पहला यह प्रश्न बहुतों के मन में उठता है और विचार नहीं है वंदना श्री दत्ताबाल ने कहा आचार्य रजनी स्वघोषित भगवान है यह आलोचना बहुत तरफ से उठती है सवाल यह है कि कभी कोई और तरह का भगवान भी दुनिया में हुआ है क्या तुम सोचते हो कृष्ण को किसी म्यूनिसिपल कमेटी ने भगवान घोषित किया कि बुद्ध को किसी पंचायत ने सर्टिफिकेट दिया था क्या जीसस को यहूदी धर्मगुरुओं ने प्रमाणित किया था क्या महावीर को जनता ने वोट देके भगवान चुना था ये सब स्वाघोषित थे मेरा कसूर क्या है इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं स्वघोषणा के सिवा और कोई उपाय नहीं भगवान होने की घोषणा तो स्वानुभव है लेकिन ये आलोचना बार बार उठती और जो लोग ये आलोचना करते हैं वो कभी भी ये विचार नहीं करते कि Jesus Muhammad Zarathustra Krishna Ram Buddha Mahavir कौन स्वघोषित नहीं था कौन था जिसके पास सर्टिफिकेट हो और इन सबको भगवान मानने वाले मुझ पर आलोचना उठाते हैं कि मैं स्वघोषित भगवान यह अनुभव ही ऐसा है कि सिवाय स्वघोषणा के और क्या होगा क्या अज्ञानियों से वोट लेके तय करना पड़ेगा तब तो फिर जैसे कि राष्ट्रपति खड़े होते वैसे खड़े हो गए दस पंद्रह भगवान चुनाव हो गया जो जीत गया वो जीत गया जो हार गया वो हार गया तो कभी कार्टर हो गए भगवान कभी रीगन हो गए भगवान जो जीत जाए साल दो साल रहे फिर हार गए तो फिर खत्म ये तो अनुभव की बात है मैं घोषणा करता हूं कि मैं भगवान हूं क्योंकि इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय ही नहीं है बुद्ध को जब परम समाधि मिली तो उन्होंने जो पहली घोषणा की वो यही थी कि मैंने परम सत्य को पा लिया है मैंने परम संबोधि पा ली मैं उस अवस्था को पा गया जिसको सम्यक संबुद्धत्व कहा जाता है मैंने अपने सारे शत्रुओं का विनाश कर दिया भीतर के शत्रुओं का मैं अरिहंत हुआ है जीसस ने घोषणा की कि मैं और परमात्मा जिसने जगत बनाया एक ही यही तो कसूर था इसलिए तो सूली लगी क्योंकि लोग यही पूछ रहे थे उनसे भी कि आप ही घोषणा कर रहे मगर अगर मेरे सिर में दर्द हो तो कौन घोषणा करेगा कि मेरे सिर में दर्द मैं ही कहूंगा कि मेरे सिर में दर्द है और मेरा दर्द ठीक हो जाए तो भी मुझे ही कहना होगा कि मेरा दर्द ठीक हो गया कौन घोषणा कर सकता है इस बात की अगर मेरे भीतर अंधेरा है तो मैं जानता हूं और अगर रोशनी है तो मैं जानता हूं और जो खुद अंधे हैं वो क्या देखेंगे कि मेरी आंखें खुल गई भगवत्ता का अनुभव तो स्वघोषित ही हो सकता है उपनिषद में जिस ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि उसने किसके आधार पर कहा कि मैं ब्रह्म और अलहिल्लाज मंसूर ने घोषणा की अनल हक मैं परमात्मा हूं वो किसके आधार पर स्वानुभव के आधार पर और कोई आधार न कभी था न कभी होगा यह कोई चुनाव की बात तो नहीं ये किसी समिति के द्वारा निर्णित तो नहीं होना है इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि मैं स्वघोषित भगवान हूं क्योंकि जो भी भगवत्ता को उपलब्ध हुए सभी स्वघोषित है इनकार करना हो सबको कर दो लेकिन ये बेईमानी मत करो कि मुझ पर एक अलग नियम लगाओ और बाकी सब पर एक अलग नियम लगाओ तो दूसरा होने का आचार्य रजनीश अज्ञानी यह बात सच इसे मैं स्वीकार करता हूं मैं अज्ञानी हूं क्योंकि मैं तो उपनिषद के सूत्र को मानता हूं कि ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते सुकरात ने तो कम से कम इतना कहा कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता मगर इतना तो कहा कि मैं इतना ही जानता हूं मैं मानता हूं कि इतनी ही कमी रह गई मैं तुमसे कहता हूं मैं इतना भी नहीं जानता कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं परम अज्ञानी हूं महाअज्ञानी हूं छोटा मोटा काम ही मैं नहीं करता जब काम ही करना हो तो बड़ा अज्ञान भी क्या महाअज्ञान मुझे कुछ भी नहीं मालूम कबीरदास ने तो कहा कि मसी कागज छुओ नहीं उन्होंने तो छुआ भी नहीं था मैंने छुआ जरूर लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूं कि मसी कागज छुओ नहीं अरे नहीं छुआ ये कोई बड़ी बात हुई छूकर और नहीं छुआ ये कुछ बात हुई चले पानी में और भीगे भी नहीं ये कुछ बात हुई कभी दास तो चले नहीं किनारे पे बैठे रहे कहा भी उन्होंने जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ मैं बूढ़ी खोजन गई रही किनारे बैठ तुम किनारे बैठोगे महाराज तो फिर कैसे खोजोगे मैंने डुबकी भी मारी और गीला भी नहीं हुआ तो कहता हूं कि मसी कागज छुओ नहीं बिल्कुल अज्ञानी मगर परमात्मा को जानने में अज्ञान बाधा ही कब रहा बाधा खड़ी होती ज्ञान से कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात लिखा लिखी की नहीं है इसलिए ज्ञान क्या करेगा देखा देखी बात देखने की बात है तो ये तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अज्ञानी हूं और अज्ञान में ही नहीं अज्ञान में ही मैंने जाना भगवत्ता को अज्ञान का अर्थ है मैंने सारे ज्ञान को इंकार कर दिया सारे ज्ञान को झाड़ के अलग कर दिया और जब सारे ज्ञान से छुटकारा हो गया तो जो शेष बच रहता है वही भगवत्ता है वही दिव्यता है उन्होंने कहा कि आचार्य रजनीश का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वहीन यह भी सच है पहली तो बात मेरा कोई व्यक्तित्व ही नहीं व्यक्तित्व तो झूठी चीज है वो तो जिनके पास आत्मा नहीं है उनको ओढ़ना पड़ता है व्यक्तित्व जिनके पास आत्मा है उनको व्यक्तित्व की जरूरत क्या और महत्वहीन ये भी सच है महत्ता की आकांक्षा ही दीन लोगों को होती है पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक एडलर ने कहा है महत्वाकांक्षी वही लोग होते हैं जो हीन ग्रंथि से पीड़ित होते हैं ये दुनिया में पता का फहराने की आकांक्षा हीनता की ग्रंथि है झंडा ऊंचा रहे हमारा ये बचकानी बुद्धि के लक्षण फिर झंडा किस बात का है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बस ऊंचा रहना चाहिए क्योंकि भीतर का गड्ढा दिखाई पड़ता है डंडे को ऊंचा करके बुलाने की चेष्टा चलती ये दत्तावाल के जो पैर छोटे हैं और ऊपर का हिस्सा बड़ा है अभी मंगला ने लिखा कि बैठे सोफा पे बोल रहे थे और पजामे का नाड़ा लटका और डोल रहा था वो पजामा था मंगला पजामे की उनको जरूरत है अरे जरा लंबा जांगिया रहा होगा पैर भी तो होना चाहिए पजामा के लिए लेलिन का मनोविश्लेषण जिन लोगों ने किया है उनका भी उनकी भी बीमारी यही थी ललिन की कि पैर छोटे थे वो कुर्सी भी ऐसी बनवाते थे जो बड़ी होती उनके पैर जमीन से नहीं लगते थे और टेबल ऐसी बनवाते कि पैर छिपे रहते अपने पैरों को बचा के चलते थे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ललिन को बस एक ही धुन थी कि किसी तरह सिद्ध करने की महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं मैं क्योंकि वो जो पैरों की दीनता थी छोटे होने की वो बड़ा कष्ट दे रही थी अडोल्फ हिटलर का जिन लोगों ने मनोविश्लेषण किया है उनका कहना है कि उसका एक अंडकोश छोटा था एक बड़ा उस कारण ही वो परेशान था वही उसकी जिंदगी भर की पीड़ा थी उसे सिद्ध करना था दुनिया में कि मैं कुछ हूं ये दत्तावाल को भी कुछ हीन ही पकड़ी हुई उसी हीनता की ग्रंथ से पीड़ित बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति तो साधारण होता उसका कोई व्यक्तित्व होता ही नहीं वो तो अति सामान्य हो जाता सहज हो जाता है साधारण हो जाता भूख लगी भोजन कर लिया नींद आई सो गए सुबह उठे सांझ हुई सोए उसका जीवन तो सहज स्वस्फूर्त हो जाता है उसमें क्या असाधारण था क्या विशिष्ट था ये विशिष्टता का मोह और असाधारण होने की आकांक्षा अहंकार के ही अलग अलग नाम है और कुछ भी नहीं और उन्होंने कहा कि आचार्य रजनीश ने हिंदू देवी देवताओं को कामी और भोगी कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है मैं क्या करूं तुम्हारे पुराण अपमान कर रहे हैं अपने पुराण उठा के देख लो तुम्हारे सारे पुराण तुम्हारे देवी देवताओं की काम वासना लिप्सा भोग इससे भरे पड़े तुम्हारे देवताओं का जो प्रमुख देवता है इंद्र वो किसी भी ऋषि मुनि को तपस्या करते देख के घबरा जाता है उसका सिंहासन डोलने लगता है इंद्रासन डोलने लगता है घबराहट पैदा हो जाती उसको कि अब आया कोई दावेदार तत्क्षण भेजता है उर्वशी मैनकाओं को कि जाओ भ्रष्ट करो इसे और खुद भी भ्रष्ट करने में कुछ पीछे नहीं और कैसा मजा है कैसे पुराण और किन बेईमानों ने लिखे कि इंद्र ने अहिल्ला को भ्रष्ट किया और सजा बेचारी अहिल्ला को भुगतनी पड़ी पत्थर होना पड़ा अहिल्ला को और कसूर था इंद्र का कुछ न्याय भी होता है कुछ थोड़ी तो न्याय बुद्धि हो शरद जोशी का एक व्यंग में कल पढ़ रहा था वो मुझे पसंद आया शरद जोशी ने लिखा है कि मैंने जब पहली बार यह श्लोक सुना कि यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता तो मेरे मन में तभी से देवताओं के चरित्र पर शक होने लगा है क्योंकि मैं सोचता हूं अगर किसी इलाके में नारी की पूजा हो रही तो उधर देवता लोगों के चक्कर काटने का क्या मतलब यह तो कोई शराफत की बात न हुई कि पराई बहु बेटियां जहां उनके बाप भाई और पतियों के खर्च पर आनंद कर रही हैं जैसे बाग में झूला झूल रही हैं या शॉपिंग शॉपिंग कर रही हैं या टीवी देख रही हैं अपने रूप सौंदर्य स्वास्थ्य आदि गुणों के कारण घर और बाहर उनका रोग छाया हुआ है पता नहीं कितने लोग उनमें से कितनी लड़कियों को पाने की साधना में गजलें गा रहे हैं कविता छपाने की कोशिश में है अर्थात बड़ा पूजा में वातावरण सुंदर लड़कियां पुरुषों के सपनों में आ जा रही हैं स्वस्थ पुरुष शरीफ घरों की खिड़कियों के पास से लड़कियों के दर्शनों की अभिलाषा में गुजर रहे अर्थात बिल्कुल नारी पूजनते का वातावरण संपादक गण अपने मुख्य प्रश्नों पर नारी की अधखुली तस्वीर छापकर अभिभूत है लेकिन भारतीय छपाई है खराब होने के कारण महात्मा गण बहुत दुखी है क्योंकि तस्वीरें साफ साफ समझ में नहीं आती सो गांधी शिकायत कर रहे कि नारी का अनादर हो रहा है पति अपने पत्नियों की आरतियां उतार रहे उतारनी ही पड़ती हर पति को उतारनी पड़ती ऐसे दिव्य माहौल में देवता ख्याल लेने को रमनते बम्बैया भाषा का उपयोग क्या काय को रमनते किसके वास्ते रमनते बिना रमनते काम नहीं चलता क्या घर में माँ बहने नहीं है जो इधर उधर रमनते जब देखो तभी रमनते रमनते ही रमनते और कुछ नहीं करनते इंसान शांति से अपनी पत्नी की पूजा भी नहीं कर सकता यू ही रमनते हर कहीं रमनते ये देवता हैं कि कॉलेज के लफंगे छोकरे इससे तो बेहतरों की सूत्र को बदल लो यत्र नारी बलाकार रमनते तत्र देवता जहाँ नारी पर बलात्कार हो रहा वहां रमो भैया जहां नारी की पूजा हो रही जैसे हेमा मालिनी की पूजा हो रही वहीं वहीं देवता रमन थे काय को रमन थे इन्हें और कोई काम नहीं कोई घर गृहस्थी नहीं बंबई बंबई में ही रमनते तभी तो काय को रमनते रमनते ही रमनते मैं क्या करूं तुम्हारे पुराणों में सारी कथा ये है मेरा कोई कसूर नहीं मैंने तुम्हारे पुराण नहीं लिखे ऐसी भूल मैं कभी करूंगा भी नहीं ऐसा कचरा मैं कभी लिखूंगा भी नहीं अगर तुम्हें अपने पुराणों के कारण हिंदू धर्म का अपमान होता दिखाई पड़ता है पुराणों को होली में चढ़ा दो श्री दत्ताबाल ने कहा कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि अगले जन्म में मैं एक हरजिन की कुटिया की सफाई करूंगा क्या आचार्य रजनीश भी ऐसा कह सकते हैं मुझे पता नहीं कि श्री रामकृष्ण ने ऐसा कहा था या नहीं लेकिन दत्तावाल कहते तो माने लेता हूं कि कहा होगा जरूर कहा होगा अब सवाल यह है क्या इस जन्म में रामकृष्ण को कोई हरिजन नहीं मिल रहा था जो अगले जन्म में हरिजनों की कोई कमी कोई हरिजनों की कुटियाओं की कमी इस जन्म में तो काली मैया की पूजा कर रहे हैं पत्थर की मूर्ति पूज रहे हैं आरती उतार रहे हैं घंटी बजा रहे हैं जिंदगी भर वही करते रहे और हर जिन की कुटिया की सफाई अगले जन्म में करेंगे क्या चालबाजियां हैं कौन रोकता है अभी करने से और एक ही कुटिया की सफाई करना है सो कर ही दो ना अगले जन्म के लिए क्या टाल रहे हो छह छह घंटे आठ आठ घंटे काली मैया की पूजा हो रही है उन्हीं काली मैया की जिनके लिए बकरे काटे जा रहे हैं खून बहाया जा रहा है कलकत्ते की काली के सामने जितना खून बहा है दुनिया के किसी मंदिर में कभी नहीं बहा जितनी प्राणियों की हिंसा कलकत्ते की काली के लिए हुई उतनी दुनिया के किसी देवता के सामने नहीं हुई मगर वो कटे हुए बकरों का मांस और खून प्रसाद रूप में वितरित होता है प्रसाद की तो बड़ी महिमा है ये डोंगर जी महाराज क्या खाक प्रसाद बटवाते लस्सी बूंदी अरे ये कोई प्रसाद है असली प्रसाद बटता है कलकत्ते की काली के मंदिर में ये रामकृष्ण परमहंस को कोई सूद्र नहीं मिल रहा था दूर तो नहीं था सूत्र क्योंकि जिनके मंदिर में वो पुजारी का काम करते थे रानी रासमणी रानी रासमणी खुद ही सूद्र थी उसका ही बनवाया हुआ मंदिर था रामकृष्ण परमहंस चौदह रुपए महीने की नौकरी पर वहीं तो पुजारी का काम करते थे शूद्रों की कोई कमी थी सच तो यह है कि विवेकानंद खुद ही शूद्र है कायस्थों की गिनती और कहा करोगे कायस्थों की गिनती व्यवस्था से सूत्रों में ही होगी असल में कायस्थ शब्द ही सूत्र का पर्यायवाची काया में स्थित आत्मस्थ हो तो ब्राह्मण और कायस्थ हो तो शूद्र और क्या चाहिए सीधा साफ हिसाब है रामकृष्ण परमहंस अगले जन्म में सफाई करेंगे बड़ी गजब की बात कही जिंदगी भर ये पत्थर की मूर्ति पूजते रहे तो यही कर लेना थी एक कुटिया साफ कर लेते इसके लिए अगले जन्म का क्यों उपद्रव लेना और वो मुझसे पूछते हैं क्या आचार्य रजनीश ऐसा कर सकते पहली तो बात मैं अपनी कुटिया की सफाई नहीं करता किसी ब्राह्मण की कुटिया की सफाई नहीं की तो हरिजन की कुटिया की सफाई क्या खाक करूंगा अरे अपनी अपनी कुटिया की सफाई करो मैं जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो अपना बिस्तर दरवाजे के पास लगाए रखता था कि सीधा अपने बिस्तर में कूद जाता था जिसमें कमरे की सफाई ना करनी पड़े कौन झंझट करे अरे रोज सफाई करो फिर कचरा इकट्ठा फिर सफाई करो फिर कचरा इकट्ठा इधर भीतर की सफाई से फुर्सत नहीं है बाहर की सफाई में कौन पड़े और क्या फायदा क्या मिला जाने वाला कचरा थोड़ा कम हुआ कि ज्यादा कमरा ही है और कोई अपना है अरे आज यहां कल वहां हॉस्टल ही तो ठहरा सराय घर है तो मैं तो दरवाजे पर बिल्कुल दरवाजे पर अपने बिस्तर को लगा के रखता था कि सीधा दरवाजे से कूद जाना बिस्तर में और बिस्तर से कूद जाना बाहर न देखना भीतर न झंझट में पड़ना मगर मेरे प्रोफेसरों को दया आती मेरे आसपास के विद्यार्थियों को दया आती मेरे साथ दो लड़कियां पढ़ती थी उनको दया आती वो मुझसे कहती कि हमें आज्ञा दो कि आपका आगे दिन कमरा साफ कर दिया करें सप्ताह में कम से कम एक दिन तो क्यों नहाक परेशान करना तुम साफ करोगी तो फिर धूल जम जाएगी और मैं वहां जाते ही नहीं उस स्थान में जहां धूल जमी फायदा क्या साफ करने का मगर फिर भी कोई ना कोई आके साफ करता तो हरी मर्जी तुम्हें सेवा करके अगर मोक्ष पाना पाओ तो हम तो अपने बिस्तर पर मोक्ष में हैं और अगले जन्म की तो बड़ा मुश्किल अगला जन्म मेरा होना नहीं रामकृष्ण का होना होगा तो वो करें अगले जन्म मेरा तो ये आखिरी जन्म है बाल अब आगे कोई मेरा जन्म नहीं है तुम जानो तुम्हारे रामकृष्ण जाने उनका होगा आगे जन्म ये तो दत्ताबाल अगर ये बात रामकृष्ण ने कही हो तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि रामकृष्ण अभी मुक्त नहीं हुए क्योंकि मुक्ति के बाद कहा जन्म है मुक्ति के बाद कैसा जन्म है ये तो इसका अर्थ इतना हुआ कि अभी भी बंधे और ये भी एक वासना ही रही कि एक हरिजन की कुटिया साफ करनी अरे इतनी छोटी सी वासना कर कुरा लेते साफ झंझट मिट जाती अगले जन्म का उपद्रव खत्म हो जाता अब होंगे कहीं पैदा कर रहे होंगे कोई हरिजन की कुटिया साफ ये भी क्या पतन हुआ इसी वो कहते हैं योग भ्रष्ट होना कहा से कहा पहुंचे काली मैया की पूजा करते करते हरिजन की कुटिया साफ कर रहे हैं मेरा तो कोई अगला जन्म नहीं है मेरा तो काम पूरा हो चुका है अब मुझे लौटना नहीं है इसलिए कैसे वायदा करूं दत्तावाल कि अगले जन्म में आके हर जन की कुटिया साफ करूंगा और दूसरी बात यह है कि मैं तो ब्राह्मण और शूद्र का भेद मानता नहीं जो मानते हो भेद वो इन चिंताओं में पड़े मेरे लिए तो हरिजन शब्द का उपयोग करना शूद्र के लिए गलत है हरिजन तो वो जो हरि को जाने क्या पागलपन है बिना ब्रह्म को जाने ब्राह्मण बने बैठे हैं लोग और बिना हरि को जाने हरिजन बने बैठे हैं लोग ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण हरि को जाने सो हरिजन एक ही मतलब हुआ दोनों बातों का चाहे हरि का हो चाहे ब्रह्म का हो मेरे लिए तो ये सारे लोग ही जब तक ब्रह्म को नहीं जान लिए तब तक हरिजन नहीं है ब्राह्मण नहीं है शूद्र ही है और इन्हीं की कुटियाएं तो साफ करने में लगा हूं लेकिन कुटियाएं मेरे लिए भीतर बाहर नहीं बाहर की कुटिया मैं क्या साफ करूं असली सफाई में लगा हूं भीतर तुम्हारी आत्मा का स्नान हो जाए उसको ही मैं ध्यान कहता हूं भीतर तुम स्वच्छ हो जाओ उसी को मैं स्वास्थ्य कहता हूं भीतर तुम आनंद मग्न हो जाओ उत्सव आ जाए दिए ही दिए जल जाए फूल ही फूल खिल जाए तो तुमने जाना तुमने जिया तुमने पहचाना उसको मैं सन्यास कहता हूं उसी कार्य में लगा हुआ हूं अजब जुनूने मुसाफत न घर से निकला था खबर नहीं है कि सूरज किधर से निकला था यह कौन फिर से उन्हें रास्तों पर छोड़ गया अभी अभी तो अजाबे सफर से निकला था ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा कोई तो हर्फ लबे चारागर से निकला था वो कैस अब जैसे मजनू पुकारते हैं फराज तेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था मैं तो दीवाना हूं और मेरे पास दीवाने इकट्ठे वो कैस अब जैसे मजनू पुकारते हैं फराज तेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था मुझसे तुम हिसाब किताब की बातें न पूछो यहां कोई हिसाब किताब नहीं कोई गणित नहीं यहां तो प्रेम एक शास्त्र है और ध्यान एकमात्र धर्म है दूसरा प्रश्न भगवान मेरा प्रश्न भी वही है जो कि श्री निर्मल घोष का था आदेश दें कि मैं क्या करूं कि इस देश की दीनहीनता भुखमरी पाखंड काहिलता और सड़ांत मिट जाए दयानंद यह सब हो सकता है लेकिन हजार हजार बाधाएं और बाधाएं गलत लोगों की तरफ से नहीं है बाधाएं उन लोगों की तरफ से हैं जिन्हें तुम भला समझते हो साधु समझते हो संत समझते हो महात्मा समझते हो बाधाएं उनकी तरफ से हैं जो तुम्हारे पंडित हैं तुम्हारे पुरोहित हैं तुम्हारे इमाम हैं तुम्हारे पादरी बाधाएं उनकी तरफ से हैं जो तुम्हारे नीति के निर्धारक हैं तुम्हारे नेता हैं इसलिए बड़ी कठिन बात है क्योंकि उन्होंने ही तो तुम्हारे मन को रचा है उन्होंने ही तुम्हारे अंतकरण पर छाप छोड़ी है वे बाहर भी खड़े हैं उनके हाथ में बाहर भी बंदूक है और वे तुम्हारे भीतर भी अंतकरण बन के खड़े उन्होंने तुम्हें दोनों तरफ से कसा है बाहर से जंजीरें पहनाई भीतर से जंजीरें पहनाई मगर फिर भी क्रांति घट सकती घटनी चाहिए समय आ गया कि घटे फेंक दो अपनी पुरानी कल्पनाओं के कफन फेंक दो अपनी पुरानी कल्पनाओं के कफन हे कभी ग्रहण से पहले नया सूरज उगाना है हे कभी ग्रहण से पहले नया सूरज उगाना है तुम्हें अब हो चुका है प्यार काफी दीप से भी शलभ से भी तारिकाओं से गगन से चांद से चंचल कमल से विरह डूबी प्रिया का अब राजरथ आए न आए कली की अभ्यर्थना सहकार को भाए न भाए जीर्ण चित्रों से बने उपचार उपमान मैले अब सहेजो अश्रु डूबी यक्ष पाती मेघमाला में न भेजो लो नए परिधान नूतन स्वर नए त्योहार लाओ लो नया चश्मा नया आलोक देखो अब नया संधान नूतन लक्ष्य देखो भेद फेंक दो अपनी पुरानी कल्पनाओं के कफन हे कवि ग्रहण से पहले नया सूरज उगाना है तुम्हें अब फेंकना होगा कफन जो हम ओढ़े बैठे लेकिन हम तो समझते हैं वो चुनरी हम तो समझते हैं वो बड़ा बहुमूल्य है कफन नहीं इसलिए पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि भारत इतना दिनहीन क्यों है क्या कारण है किसका हाथ है कौन से दुर्भाग्य ने इसे ग्रसा इसकी छाती पर कौन से चट्टान रखे कि दबा जा रहा मरा जा रहा किसने बनाया इसे भूखा पाखंडी काहिल किसने इसके जीवन में सड़ान भर दी पहले तो मूल कारण खोजने पड़े दयानंद और मूल कारण बड़े गहरे सदियों पुराने जब तक इस देश में कर्मवाद की गलत व्याख्या प्रचलित रहेगी दीनता हीनता मिट नहीं सकती क्योंकि तुमने दीनता हीनता को सांत्वना के बड़े सुंदर वस्त्रों में ढांक रखा है सदियों से तुमने ये समझाया लोगों को कि तुम गरीब हो इसलिए कि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे तुम अमीर हो इसलिए कि तुमने पिछले जन्म में पुण्य किए थे चाहे शास्त्र हिंदुओं के हों चाहे जैनों के चाहे बौद्धों के इस बात पर राजी तीनों धर्मों के शास्त्र इस बात पर राजी कि महावीर राजा के घर में पैदा हुए हजारों हाथी हजारों घोड़े रथ क्यों क्योंकि पिछले जन्म उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए थे बुद्ध राजा के घर में पैदा हुए पिछले जन्मों के पुण्यों का फल कृष्ण राम सब राजाओं के बेटे एक तीर्थंकर गरीब घर में पैदा न हुआ एक अवतार गरीब घर में पैदा न हुआ एक बुद्ध गरीब घर में पैदा न हुआ हो कैसे सकता है गरीब हो तो उसका मतलब ही साफ है कि अतीत में तुमने बहुत दुष्कर्म किए पाप कर्म किए बुद्धत्व को पाओगे कैसे तीर्थंकर होगे कैसे ये बात भयंकर है ये जहर है जिसने भारत की आत्मा को नष्ट किया सड़ान से भर दिया मेरे हिसाब में कर्म का सिद्धांत गलत नहीं है मगर उस सिद्धांत की जो व्याख्या की गई वो गलत है मेरे हिसाब में कर्म का सिद्धांत तो वैज्ञानिक है आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा लेकिन अभी अगले जन्म में नहीं ये अगले जन्म की बात बेईमानी से भरी हुई है हाथ अभी डालोगे और जलेगा अगले जन्म में किस किसी की गर्दन अभी काटोगे और कटेगी अगले जन्म में कर्म और उसका फल संयुक्त है जैसे हर सिक्के के दो पहलू ऐसे कर्म और फल एक ही सिक्के के दो पहलू इधर कर्म इधर फल यहां देर नहीं है तुमने कहावत सुनी कि परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं वो कहावत बेईमानों ने गढ़ी होगी मैं तुमसे कहता हूं ना देर है ना अंधेर है प्रकृति के नियम में परमात्मा के नियम में कैसी देर और कैसी अंधेर अगर देर हो गई तो वही तो अंधेर है और फिर अगर थोड़ी देर हुई तो ज्यादा हो सकती फिर देर को लंबाया जा सकता है फिर फाइल पड़ी रहे जन्मों जन्मों तक फिर पूजा तुम पत्री करते ही रहो सत्यनारायण की कथा करवाते रहो यज्ञ हवन करवाते रहो फाइल पड़ी रहेगी अंधेर फिर तो होता चला जाएगा नहीं देर ही नहीं तुम जब क्रोध करते हो तब क्रोध के साथ ही तुम्हारे भीतर जो जहर फैलता है जो आग जलती वो उसका फल है अगले जन्म में नहीं